हुआ भगवान ने आदेश दिया अब उद्धव जी बोले भगवान आप अपने कुल का संहार करके और गौतम को जाना चाहते हैं तो मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूंगी हमको भी साथ ले चलो गौतम को हे परीक्षित एवं प्रार्थता था भगवान से प्रार्थना की तो उत्तर से बोले भाई जब हम जिसलिए हमारा अवतार था वो कार्य प्राय हो चुका अब उस पृथ्वी का संघार होना चाहता है नष्ट होगा आज से सातवें दिन समुद्र उस नगरी को बुला लेगा इसलिए तुम अपने बंधु बांधवों का स्नेह पहले से छोड़ दो पर लोगों ने मन लगा करके पृथ्वी पर संदृष्टि होकर के विचरण करो जो कुछ ये दिखाई दे रहा है सब मेरी माया है यदम मनसा वाचा न स्वयं नश्वरम मंच बुद्ध माया मनोभयम जो मन से सोचते हो आंख से देखते हो कान से सुनते हो ये सब मेरी माया है ये भगवान अब तुम मदात्मक विश्व को देखते हुए इस संसार में तुम लौट करके नहीं आओ उत्तर बोली महाराज मेरी समझ में आपका ये देश ठीक ठीक आ गया इस तरह से समझाओ इतनी जल्दी छोड़ी आता है जो संसार झूठा है ये ठीक ठीक और समझ भगवान बोले उद्धव जाओ विवेकी लोग अपनी आत्मा का अपने आप उद्धार कर लेते हैं वैसे तो पशु भी जानता है हित तो अनहित पशु पक्षी जाना पर विशेष करके मनुष्य तो अपने हिताहित को जानते ही है क्योंकि तो प्रत्यक्ष और अनुमान से अपना कल्याण की बात जान लेता है ये बुद्धिमंतस्ते निर्देह आविष्क्राम पश्यंती बोलो और हम अभिभूत महाराज का दत्तात्रेय का संवाद सुनाते हैं दत्तात्रेय और यदु महाराज का जो संवाद है उसको सुनाते हाँ भाई तो एक अद्भुत को देखा तो दत्तात्रेय थे यदि महाराज ने उसे कहा भगवान आप कुछ काम तो करते नहीं पर आपको आपकी बुद्धि तो सब लोगों से विलक्षण है ये आपने कहां से प्राप्त की आप हैं बुद्धिमान व बच्चों के समान रहते हैं स्वयं तो समर्था है आप कुछ काम कर नहीं सकते ये बात नहीं है आप समर्थ हैं सब कुछ कर सकते हैं बुद्धिमान हैं फिर कारणों के समान आप घूमते हैं कुछ करते नहीं है संसार तो काम क्रोध आदि का दुनिया में झुलस रहा है आप इस संसार में रहते हुए भी मस्त रहते हो आनंद से रहते हो अपने आनंद का कारण तो बताओ भगवान बोले कि जब यदि ने ये पूछा दत्ता को ब्राह्मण बोले बोले वो दत्ता को जी अरे हमने गुरु बहुत बनाए हैं चौबीस गुरु हमने बना रखे हैं तो वो कंठी देने वाले गुरु नहीं अपनी बुद्धि से हमने गुरु माना है उनको जिससे जो शिक्षा ली उसको गुरु मान लिया कौन है महाराज ने गुरु तुम्हारे वो पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कपूर जगह समुद्र पतंग मधुमक्षिका गज भ्रमर हरण मीन पिंगला पुरुर बालक कुमारी वाणकर्ता जल मीन आदि पेश करता ऐसे चौबीस दिन हो गए जिससे जो शिक्षा नहीं है उससे पृथ्वी से ये शिक्षा तो पृथ्वी पर लोग लघुशंका करते हैं चट्टी करते हैं गड्ढा खोदते हैं पर वो किसी से कुछ नहीं जी सब सहन होती जो सहनशीलता हमने पृथ्वी से सीखी है दुष्ट लोग कुछ भी कहें बोलो सब कुछ सही गुरु क्षमा गुणा शिक्षित ये क्षमा का गुण हमने पृथ्वी से सीखा और पर्वत भी ये पृथ्वी है पर्वत भी पृथ्वियों से परोपकार सीखा तो पर्वतों से दूसरों का उपकार ही होता है वृक्ष होते हैं दूसरों के काम में आते हैं झरने चलते हैं जल दूसरों के काम में आता है पर एक पर दूसरों का उपकार करना और प्रतीक्षा ये पृथ्वी से दो बात सीखी है वायु से क्या सीखा वायु दो प्रकार का होता है एक तो बाहर चल रहा है एक हमारे शरीर के भीतर चल रहा है तो शरीर के भीतर के चलने वाले वायु से सीखा है तो तुम्हारा प्राण जो चल रहा है ना भीतर वो तुमसे बढ़िया बढ़िया कोई तो चीजें नहीं चाहता होता तो उसके लिए कुछ डाल दो पेट में खाने के लिए आहारादि मात्र प्रवर्त थे विषयांश की मित्र वो जो है वो तुमसे गुलाब जामुन और बढ़िया बढ़िया चीजें ये नहीं चाहता ये तो जीवा का विषय है प्राण के लिए तो बस कुछ पेट में डाल दो उसी से प्राण की रक्षा बनी रहे ऐसे ही गौरव मुनिर भगवे इसलिए साधु को भी ऐसे होना चाहिए जो मिल जाए प्राणों की रक्षा के लिए खा ले इधर उधर मन को मिलना चाहिए प्राण हो सूक्ष्म संसार में रहता योगी और बाहर की वायु सन्यासी का तो बाहर का वायु जहां दुर्गंधी में होकर जाता है थोड़ी दूर में जाकर के दुर्गंधी को भी छोड़ देता है सुगंधी में होकर जाता है सुगंधी को छोड़ देता न किसी का गुण देता है न किसी का दोष सबसे अलग रहता है संग ये हमने वायु से सीखा सारे दोष गुणों को देखो पर किसी को सबसे असंग रहो आकाश से क्या सीखा मूल्य देहांतर्गत होगी आत्मनो अव्यवच्छेदन अभेदत्व का आकाश शरीर के भीतर रहता हुआ भी शरीर के गुण और दोषों से आकाश का कोई संबंध नहीं ऐसी आत्मा का शरीर के दोष होने से कोई संबंध नहीं ये आकाश से सीखा जल से क्या सीखा तो जल जैसे स्वच्छ होता है मधुर होता है ऐसे महात्मा को भी मधुर होना चाहिए और स्वच्छ पवित्र रहना चाहिए यथा अग्नि तेजस्वी दीपका सर्वभक्षों की मलम ना करते हैं अग्नि सबको जला देता है खा लेता है भजन कर देता है पर दोष को स्वीकार नहीं करता ऐसे साधु भी भिक्षा मांग करके थोड़ा थोड़ा अन्न जब खाएगा तो उसको भी कोई कलमश कोई पाप नहीं लेगा वो भी निर्दोष है मुनिरत्न भगवे अच्छा। चंद्रमा से क्या शिक्षा लिया तो चंद्रमा की कला की वृद्धि और क्षय होता है चंद्रमा के अवतार कहते हैं ऐसे शरीर के जन्म और मरण होते हैं विकास आत्मा के नहीं होते सूर्य से क्या शिक्षा ली लोगों की विषयान गणना थी सूर्य से लेते किरण ही जलाने किरणों से जल खींचते हैं सूर्य भगवान छोड़ देते हैं ऐसे इंद्रियों के द्वारा विष्णु को ग्रहण करता है चाहू और छोड़ देता है घटाधिकों तो में जल भरा है उससे सूर्य भिन्न भिन्न मालूम होते हैं पर सूर्य एक ही है शरीरों के भेद से आत्मा भिन्न मालूम होते हैं पर आत्मा भिन्न नहीं है आत्मा एक ही है ये सूर्य से सीखा है कपोत से क्या शिक्षा ली है तो एक कपोत का कंकर वो वन में रहता था और दोनों स्त्री पुरुष बड़े आपस में प्रेम से रहते थे कपूर जी ने गर्भ धारण किया उसने अंडे पैदा किए तो वो थोड़े दिन में वो छोटे छोटे बच्चे निकल पड़े उन दोनों से पक्षी हो जाता वो दोनों बच्चों से कल भाषण को सुनकर के बड़ी प्रसन्न होती थी जब वो चीव चीव करते थे तो उन दोनों को बड़ा अच्छा लगता था खुदकते थे बच्चे तो दोनों कबूतर कबूतरी बड़े प्रसन्न होते थे भगवान कृष्ण की माया से मुहूर्त तुरंत तो कर गए शिशु तो बच्चों का पालन पोषण करने लगे एक दिन उन बच्चों के लिए अन्न लेने के लिए बाहर गए उसी समय एक बहेलिया ने आकर के उन उन बच्चों को अपने जाल में फंस लिया अब जब वो आई आए दंपति कपोजी ने देखा मेरे बच्चे मेरे जाल में फंसे हैं तो तो दुखी होती हुई होती हुई उस जाल में अपने आप ही गिर गई बच्चों के पास पहुंच गई फंस गई जाल में जाले जारे बद्धा और कपोत जो है बाहर रह करके वो सोच रहा है बिलाप कर रहा है अरे मेरे पुण्य सब समाप्त हो गए तो जो मेरी स्त्री भी फंस गई अब मेरे बच्चे भी फंस गए मेरा तो सारा गृहस्थ ही नष्ट हो गया ये तो मेरे बड़े अनुकूल थी स्त्री मतदान प्रजा जब मेरे बच्चे भी नहीं रहे और स्त्री भी नहीं रही तो इस पूरे घर में मैं चाहता हूँ करे तो एवं तान विलिप्त स्वयं कृपणा नहीं बंधन पश्चिम ये सब देखता हुआ भी और स्वयं उस जाल में नहीं कूद गया वो बहेलिया तो उसका काम बन गया और सर्व ले जाएंगे तो राजन ये द्वंदाराम कुटुंब ने सुना कुटुम्बम कृष्ण ऐसे कुटुंब में आसक्ति करके कपोट के समान ये दुखी होता मुक्ति का दरवाजा ये मनुष्य का शरीर से प्राप्त करके विषयों में जो आसक्त होता है उसको कबूतर पक्षी के समान आलू आरूढ़ पतित समझना चाहिए ब्राह्मण बोले अरे अब हमने अजगर से जो शिक्षा ली है वो अजगर जो है वो एक जगह यथा इंद्रिकम सुकम तो स्वर्ग नरके से भगत यथा दुखम तस्मा भगत भगस्तम में छेद थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाए तो अजर अजगर के समान वही प्राप्त करके पढ़ लौटने अजगर जो है अपने स्थान पर रहता है उसको जो वस्तु वही मिल जाती है उसमें संतुष्ट हाँ। बहुत दिन न मिले थोड़ी देर पड़ा रहता है पतंग से क्या सीखा पतंग जो है दीपक में जाके जल जाते ऐसे अजितेंद्र गुलाम सुंदर रूप को देख करके उस पर लोभ हो करके उस पर अपने को नष्ट कर देता है भ्रमर गंध का रोगी कमल के पुष्प पर बैठा हुआ वहीं बंध जाता है सूर्यास्त के समय उसी में बंध जाता है दुख पाता है ऐसे भ्रमण से हमें ये शिक्षा मिली वृक्षा का लाभ पेट में रख लो तो बाहर मत रखो संग्रमण करो तो रात को खा लो सायं वो में एकदम भोक्षण दिन संग्रह क्योंकि मधुमक्ष का भी जन्म मधुमक्खी जो शहद को इकट्ठी करती रहती है बेचारे को खाने को मिलता नहीं है दूसरे शहद ले जाते हैं गज से शिक्षाली वो हाथी पकड़ने वाले गड्ढा बना करके हथनी खड़ी कर देते हैं हथनी से स्पर्श करने आता है गड्ढे में गिर जाता है हरण से क्या सुना हरण को शब्द बहुत अच्छा लगता है बैंड का शब्द बजाने लगते हैं वो उससे मोहित हो जाता है खड़ा रहता है पकड़ लेते हैं हरण को मार लेते मछली इतने गहरे जल में रहने वाली भी जिहवा के लोभ से वो पकड़ी जाती है पिंगला से क्या चलता पिंगला देश अपना श्रृंगार के तो बैठी आदमी को देखती है ये आएगा ये आएगा ये मेरे को तो बहुत धन देगा और व्यक्ति आने आगे चले जाए आधी रात हो गई कोई नहीं आया उसके और उसका मुंह सूख गया और सूख गए अब उसको कहता बुरा करे मेरे तुच्छ मनुष्यों की आशा करे देती हूँ और मेरे हृदय में विराजमान जो भगवान है उनकी मैंने अपेक्षा कर रखी है और मैं वो विस्तारण या हम तुच्छ नाराज काम काम है अरे तुच्छ मनुष्यों से मैं अपनी कामना पूरी करना चाहती हूँ और अपने ही स्वरूप में अपने ही अंतकरण में निवास करने वाले जो परमात्मा है भगवान है ईश्वर है उनको मैंने उपेक्षा कर रखी है ये खाद्य उत्तम नरम करे वो स्वयं दुखी है मुझे क्या सिद्ध करेंगे मेरे मूर्ख हूं तो दिन तक मैंने अपने शरीर को बेच करके और निंदित व्यापार से मैंने अपने देह को पालन किया अरे मेरे को देखा और ऐसा उसने करके और आशा छोड़ करके जब अपने पलंग पर जाकर के आनंद से सो गए कृष्णा को कर ब्राह्मण देवता दत्ता दत्तात्रेय हमने सीख लिया कोई आशा ही परम दुखम ये जो आशा है ये जीव को दुख देती है और निराश्रम परम सुखम आशा को छोड़ देना ही है मनुष्य के लिए इस तरह से उन्होंने बताया सभ्य हो जाते एक कुरुण पक्षी था उसके चौंक में मांस था उसे देखकर के सारे पक्षी टूट पड़े उसको उस पक्षी कुरुण ने देखा कि ये मेरे ऊपर क्यों टूट रहे हैं जब उसके उसने समझा ये मांस को देखकर क्या है तो मांस का टुकड़ा उसने नीचे जमीन में छोड़ दिया सारे पक्षी उस पर मांस के टुकड़े को दौड़ पड़े और क्रोध से बच गया उनके घर यही और बता चित्रता महाराज बालक से क्या सीखा बालक को जैसे न मान होता है अपमान वैसे मान अपमान के चक्कर में मत पड़े बच्चे को अगर परिवार दो तो पुरस्कार दो अभी आ जाएगा तुम्हारे पास बच्चा जैसे मान अपमान का ज्ञान नहीं होता उसको तो ऐसे महात्मा को माना मानसिक से रहना चाहिए काम तो आत्म की दो बालक की चरानी कुमारी से एक लड़की से हमने शिक्षा ली है क्या तो सोचते क्या शिक्षा ली तुमने तो फिर एक लड़की थी उसको देखने के लिए उसकी ससुराल से कुछ लोग आया लड़की को देखने मुझे आती है और वहां घर में घर वाला कोई था नहीं तो अकस्मात आ गई मेरा सूची में लड़की ने कहा ये मालूम होता है कि हमारे ससुराल के लोग देखने आए जहां से बातचीत चल रही और वो उसने बाहर सबको में डाल दी और भोजन बनाने को तो आरंभ कर दिया और औरत तो सब सामान था चावल नहीं थे तो धान थे और धान को पूछ कर चावल वही निकाले थे और चावल निकाले लगे तो हाथ में चूड़ी पहन रही थी वो वो फुट खटखट के तो उनकी अरे ये लोग सोचेंगे अगर इसके यहां चावल भी नहीं रहते अब फट टूट रही है तो उसने और चूड़ियां निकाल दी दो चूड़ी रही थी तो अब जब कूदने कूदने लगी तो दो चूड़ी भी बड़े बने आपने आपसी में तब उसने तो एक एक रहने एक एक रहने दी तब तक कूद लिया कोई जगह नहीं तब तो पुनः अवघंता तस्या संगम सदन चतुर्थतः तराभ्याम एक एक कम निष्कार एक एक रहने दिया इसी प्रकार जब हमने वो सब दृश्य देखा तब से हमने ये निश्चय किया कि साधु को अकेला रहना चाहिए में एकत्र वासे का रहा बहुत से एक जगह रहोगे तो तुम आपस में लड़ जाओगे सब और दो रहोगे तो बात करते रहो वहां चार लोग बढ़िया मिलती है वहां से मिलती है वहां से लोग वहां छतरी मिलती है वहां जूता मिलता है दोस्त वार्ता सर इसलिए कुमारी की कंकड़ की तरह अकेला रह जाओ बाण बनाने से बाले से क्या सीखा एक बाण बनाने में ऐसा अच्छा लगा अपना मन लगा करके राजा को सवारी निकल गई उसने देखा ही किसी ने पूछा कि राजा की सवारी गई है भाई मुझे तो पता नहीं तो राजा की सवारी तो बड़ी गालीबाजी के साथ गई होगी तुम्हें क्या पता नहीं तो मैं अपने काम में लगा हुआ तो बोलो इसको तो- तो सारा वो सुनना हटा करके मुनि आसन प्राणम जित्वा मन एकत्र संगीत आसन पर बैठ करके प्राणा प्राणायाम करके अपने लक्ष्य में मन को ऐसे लगा और दुनिया को एकदम भूल ही जा बोल हमने उसको ये सीखा और ये सर्प से क्या सीखा तो सर्प दूसरे के घर गुजर कर लेता है इसलिए कि अपने लिए क्या मकान बनाना जवाहर हम बोले तो था पूर्ण नाभि से क्या सीखा ये जो जाला पूर्ति है इससे ये सीखा कि ये तो न तो जाला बनाने वाला बुलाती है भैंस न जाला बुलाने के लिए तागापन सिलाती है ये अपना ही तागा अपने से निकाल लेती है और बनाए भी जाले को कूद भी अपने आप लेती है न निमित्त कारण की इसको आवश्यकता और न उपादान की अरे घड़ा बनाने के लिए भी कुम्हार की आवश्यकता है मिट्टी की आवश्यकता है पर पूर्ण नाभि को किसी की आवश्यकता नहीं जो ताना उड़ेगी वो भी कहीं से नहीं लाएगी वो अपने शरीर से नहीं ले लेगी और बनाई भी नहीं तो इसी प्रकार हमने की बात समझ में नहीं आती थी पर अकेले नारायण जगत को कैसे बना लेते हैं तो समझ में आ गई करें जो ये ओम नाभि की तरफ अपने आप ही ताला बन जाती है और अपने आप ही गाना भूल भूल लेती है ऐसे नारायण जो है जगत रूप भी बन गए और बनाए भी जगत को अपने आप लिया ये उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है परमात्मा मसाला भी कहीं दूर कहीं से नहीं लाते हैं बनाने वाला भी किसी को नहीं बुलाते यथाहूनापि हृदयान्निर्गतान पूर्णाम वक्तृण प्रसाद केंद्रता पुनग्रसित और उस आगे वागे को और फिर अपने में लील भी जाती है ऐसे परमात्मा जगत का प्रसार भी कर देते हैं इसे लील भी कर देते हैं और पेशस कृष्ण का वो जो है कोई किसी कीड़ा को ले आता है उसका चिंतन करके उसी रूप का बन जाता है तथा देही यथोत्र धारित मन से जिसका ज्यादा चिंतन करेगा और तत्त रूप को ही प्राप्त कर लेता है अपने शरीर से क्या सीखा ये चौबीस गुरु तो बाहर के रहे और एक पच्चीसवा गुरु उन्होंने अपने शरीर को माना है दत्तात्रेय जी के चौबीस एक तो पच्चीस में उन्होंने अपने शरीर को भी गुरु माना देवो गुरु मम विरक्ति विवेक हेतु विभ्रत्स्म सत्व निधनम सतता दत्तम तत्वांगन विमृशा यथा तथा तारक्यमित्वरसितो विचराम्य संगम ये शरीर भी हमारे गुरु जी है हम्म। क्योंकि ये वैराग्य भी देते हैं और विवेक भी देते हैं तो वैराग्य कैसे देते हैं कि मरते हैं जन्मते हैं वृद्धि होते हैं इसलिए वैराग्य देते अगर शरीर कभी उत्थान हो कभी बीमार न हो और कभी मरे नहीं तो किसी को वैराग हो सकता है नहीं इसकी जड़ जड़ता देखते हैं बीमारी देखते हैं वहां कोई चलाया नहीं जाता दिखाई नहीं देता और मर जाएगा ये जब ही संसार की वस्तुओं से बैलाव होता है शरीर की जगह और शरीर देवता जी के रोते हैं कि हमारा कल्प तक कभी हमें बुढ़ापा नहीं आता मरते नहीं इसलिए हमें भी नहीं होता और तो ये देहो गुरु नम देह देह हमारे गुरु जी कौन है कि हमें वैराग देते हैं मरने वाले होने से रोगी होने से हम्म, और विवेक के हेतु भी है गुरु जी के पास ले जाते हैं जीवात्मा को उपनिषद पढ़ते हैं साधन करते हैं तो विवेक भी इससे मिलता है वैराग्य भी मिलता है ये देह भी हमारा गुरु है तत्वानंदी के भूमिश्याम भूमिश्यामी परमात्मा का ध्यान भजन भी इससे ही बनता है तथापि पारक्यम तो भी ये स्वस्त्रगालादि भक्ष है हमारे जंगल में डाल दिया जाए तब समझ को तो कुत्ते खा जाएंगे गिदड़ खा जाएंगे अग्नि में जला दिया जाएगा तो भस्म हो जाएगा इतरस तो विचराम न समझा तो भी इसमें हम ममता नहीं है और गुरु जी पर इससे असंग रहते हैं इसमें ज्यादा ममता नहीं करते वो बोलते नहीं गुरु जी है तो, तो, तो तन मन से सेवा करनी चाहिए इसकी शास्त्र की गुरु की ईश्वर की यावत जीवे त्रय गया वेदांतो गुरु ईश्वर शास्त्र में आता है तो जब तक जियो तब तक चाह तुम अद्वैत निष्ठ हो जाओ जीवन मुक्त हो जाओ पर इन तीनों को तो मानते वेदांत शास्त्र गुरु और ईश्वर तो इसलिए फिर उनको गुरु जी की उपेक्षा करोगे तो फिर तुम गुरु भक्त कहां रहे तो शरीर की तुम उपेक्षा शरीर तुम्हारा गुरु है तो कहते हैं विचित्र तो गुरु ये विलक्षण गुरु जी हैं अगर तन मन से इनकी सेवा करोगे तो फिर गुरु